और जब उन पर बात वाक़ हो जाएगी तो हम उनके लिए ज़मीन से एक चलने वाला जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि यकीनन फुला लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे